सा सुन सब हे मिले वे चरण लागे हर सुगत ते देशेष बुझ कुशलाता हो ही अचल रघुपति मुख कमल कहे मंगल जानी नयन जल रो कहे कनक थार उतार बार बार प्रभु गात निहार जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ सास में कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग सुहाग अचल हो सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं नाना भारती निछावर कर परमानंद धर हे कौशल्या पुनि पुनि रघुबीर तवत कृपा सिंधु नर धर हृदय विचारत बारही बारा कवन भाति लङ्कापति मारा अति सुकुमार जुगल मेरे बारे निशर सुभट महाबल भारे अनेकों प्रकार से निछावरे करती है और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही है कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बलि थे लक्ष्मण अरुषेता सहित प्रभु बिलोकति मात परमानंद मगन मन पुल पुल पुल कित लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रहे हैं उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है लंकापति कपि सनल लीला सब बानर बीरा धर मनोहर मनुज शरीरा भरत सने हिलव्रतने माम सादर सब बर, प्रे प्रेमा, देख नगरबा सिन रीति सकल सराह हे प्रभु प्रद प्रीति लंकापति विभीषण वानरराज सुग्रीव नल नील जाम्बवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए वे सब भरत जी के प्रेम सुंदर स्वभाव त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों की प्रेम शील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं रघुपति सब सखा बोलाए मुनि पद लाए गहो खाए गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे इनके कृपा दनुज रन मारे ये सब सखा सुनहो मुन मेरे भय समर सार कर कह मेरे मम हित लागे जन्म हारे भरतहुते मोहे अधिक प्यारे सुनि प्रभु बचन मगन सब भय निमिष निमिष ऊपर जत सुख न फिर रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के ये सब सखा मुनि के चरणों में लगे ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं फिर गुरु जी से कहा हे मुनि सुनिए ये सब मेरे सखा हैं ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े जहाज के समान हुए मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए अपने प्राणों तक को होम दिया ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं कौशल्या के चरण ने नाय माथ आशीष दीने हर्ष तुम प्रिय मम जिमे रघुनाथ सुमन वृष्टि नभ सपुल भवन चले सुख कन चढ़े अटारिन देखे नगर नारी नर वृंद फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं